मीरा कहे प्रभु दस रा मीरा प्रभु दस रा मीरा प्रभु दशरा मीरा कहे प्रभु दशरा प्रभु दास कहे प्रभु कहे प्रभु कहे प्रभु दास कहे प्रभु

और आसरू काहे तुम बिन जलोटा जी ने अनगिनत प्रार्थना सभाओं में भक्ति रचनाएं प्रस्तुत की और आज एक अजीब मौका है जब हम उनके लिए प्रार्थना सभा में यहां उपस्थित हुए हैं आज का समय कुछ कहने का तो नहीं है फिर भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने भाव यहां प्रस्तुत करना चाहते हैं मैं निवेदन केवल यही करूंगा कि कम से कम शब्दों में वे अपनी भावना यहां प्रकट करें और इस क्रम में सबसे पहले पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की मुंबई की पहली छात्रा श्रीमती मालती मेघानी जी से मेरा निवेदन है कि वे कम से कम शब्दों में अपनी भावना यहाँ प्रकट करें वे यहाँ दो शब्द बोलेंगी मेरे को नहीं मालूम पच्चीस लाख लफ्ज में मैं बोल सकती हूँ अभी क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल शॉक हुआ मैं अभी अभी आई हूँ बाहर गाँव से और मैंने टीवी में जरूर जी को देखा मैं बोला गा रहे हैं तीन ही दिन हुए थे टीवी में गा रहे हैं और मैं नीचे देख रही हूँ जरोड़ा जी गुजर गए मैं यकीन नहीं मानी दोबारा मैं फिर दोबारा लगाया दोबारा लगाया जब तक मैं यकीन हो गए कि भाई हाँ एक सचमुच गुजर गए ऐसे हो नहीं सकता है कि हमें मिले बिना गए इतना मैं भूल सकती हूँ उनको ये 1964 में पहले मुंबई में आए और जब पहले पहले मैं इनसे मिली मैंने उस दिन कहा मैं आपसे पूरा गाना सीखना चाहती हूँ आपके तरीके से गाना चाहती हूँ इन्होंने कहा जरूर और ये सिक्सटी फोर के फोर्थ में इनको मिली हूँ फिफ्थ को ये हाजिर हो गए मेरे घर में और मेरे को सिखाना शुरू किया सब कुछ अप्रिशिएट करते हुए भी पहले पहले दिन मेरे को बोलते हैं मेरी बच्ची चार साल की बैठी हुई थी बाजू में और वो हिल डोल रही थी तो मेरे को कहते हैं मालती जी आप तो गा गा बहुत बढ़िया रहे हैं लेकिन आपको रिदम भी बच्चे से सीखना पड़ेगा मैं इतनी शुक्रिया अदा किया उनको ये चार साल के बच्चे से मेरे को रिदम सिखा सीखने का उद्देश्य दे रहे हैं तो ग्रस्त में आखिर तक मैं आपको ये ये बोलना चाहती हूँ कि ये सिक्सटी फोर में आए और इन्होंने एक तीस चालीस साल में क्या प्रेम जुड़ाया कितने लोगों को अपना किया मैं अभी आप इनकी उम्र की हूँ मैं नहीं इतने जुड़ा सकी बम्बई में लोग जितने ये लोगों ने जुड़ाया गनवर ने जुड़ाया रिस्पेक्ट जुड़ाया प्यार जुड़ाया जरोड़ा जी का नाम नींद में भी आदमी करे तो उठ सकता है मैं इतने इतना बोल के मैं बहुत थैंक्स करती हूँ मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया बहुत बहुत खुश रहे यहाँ के ये थी पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की मुंबई की पहली छात्रा श्रीमती मालती मेघानी जी सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक खयाम साहब से मेरी निवेदन है कि वे कृपया माइक पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करें माननीय खयाम साहब पुरुषोत्तम जी इतने महान कलाकार उनकी सिफात गिनाना बहुत मुश्किल है और मेरे मेहरबान मित्र मोहसिन भाई और हमेशा उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की जो जो भी काम हम करते कभी उनको कुछ पसंद आता तो टेलीफोन से भी बात होती और बड़े प्यार से कहते कि देखो ये आपने द्वाबा हमारे जिस इलाके के हम हैं पुरुषोत्तम तो जी और हम जालंधर द्वारा के तो दुआबा इलाका तो जो है ख़ास मशहूर है बड़े सुरीलेपन का तो वो बड़ी खुशी से कहते हैं फैन साहब आपने पूरा दुआबा दिया है तो ये हौसला अफजाई इसने बड़े महान हस्ती का और मैं शामिल हूं शोधन जी के पूरे परिवार का सबके साथ हूं मैं उनके इस दिन है और मुझसे बात कर रहा था रूप जी से अभी मुझसे कोई खास बात नहीं हो रही है लेकिन मुझसे बात ही नहीं हुई रूप जी कह रहे हो कि ये साहब को क्या हो गया लेकिन तो होना ही था जब एक बड़ा भाई बिछड़ जाए लेकिन उनकी कला उनका हुनर उनकी मानवता उनकी महानता जो है वो तो रहेगी जिस्मानी तौर पर वो हमसे जुदा जरूर हुए हैं लेकिन वो हमसे जुदा नहीं है और ना होंगे सो so, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से अल्लाह से कि उनका जो मकाम उन्होंने यकीनन दिया होगा जन्नत दिया होगा स्वर्ग दिया होगा वो वहाँ पे स्वर्ग में है जन्नत में है वहाँ से वो मेरे शब्द कुछ सुन रहे होंगे वो कि मैं किस दिल से उनको याद कर रहा हूँ और मेरी प्रार्थना है अल्लाह से ईश्वर से कि उनके परिवार को उनका जो दिया हुआ गुण है जो आदेश है अनूप जी और पूरे सब लोग उसी आदेश को लेके आगे बढ़े